तदंतर नदियां और समुद्र भांति भांति के रत्न लेकर राजा पृथु के अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्म जी भी आए अंगीकार से देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषेक किया उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते वो ही अन्न पैदा करती थी चिंतन करने मात्र से मंत्र सिद्धि हो जाते थे सभी गोए काम थी और वृक्षों के एक-एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी राजा पृथ्वी को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा ये वैन नंदन राजा पृथ्वी तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे यह सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथ्वी का स्तवन किया और कहा आप महर्षियों के कथानुसार हमारे लिए आयोजन की आजीविका की व्यवस्था करो तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी पृथु ने भी उसका पीछा किया अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली राजन मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित है मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी अतः तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए मुहि पते क्रोध छोड़ो मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए पृथ्वी की यह बात सुनकर धर्मात्मा एवं उद्धार राजा पृथ्वी ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा जो अपने या पराय एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणी को वध करता है उसे पाप लगता है यदि किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हैं तो उसके मारने पर पातक नहीं लगता अतः वसुधरे यदि तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा मेरी आगे के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं सुए अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा अतः तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है राजा पृथु इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया राजन मैं यह सब कार्य करूंगी तुम मेरे लिए बछड़ी की कल्पना करो जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं इसके सिवा मुझे समतल बनाओ जिससे मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुष मन को पशा बनाकर उन्होंने अपने हाथ में अन्नों को धुआ तदंतर चंद्रमा बछा हुआ बृहस्पति धूने वाले बने गायत्री आदि छंद दूध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्मा ने दूध रूप में प्राप्त हुए फिर इंद्र आदि देवताओं ने स्वर्ण में पात्र लेकर इस पृथ्वी को धुआ उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य धूने वाले हुए उनका दूध अमृतमय था इस प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दूध का दोहन किया उनके लिए विवस्व मनु बछड़ा और अनंत दूहने वाले असुरों ने लोहे के पात्र में मामा शक्ति तथा माया शक्ति का दोहन किया इस प्रकार दूध दुहने वाला दुर्बुद्धा और बछड़ा विरोचन था उस माया रूप दूध से ही देते आज भी मायावी है नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर दूमे के पात्र में विश्वरूपी दूध दूहा उस समय वासुकी दुग्धा थे इसलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं यक्ष और पूजनों ने कुबेर की बछड़ा कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्ध्यान शक्ति का दोहन किया उनके दुग्धा थे रजत नाग राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्त में दूध का दोहन किया उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मपति कुबेर दोधा गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया मुनिपत्र मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोधा हुए थे पर्वतों ने पृथ्वी से में औषधियाँ तथा भांति भांति के रत्नों को दूहा उनका बछड़ा हिमालय भूने वाला मैरुभूरी तथा पात्र हिमालय था वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दूहा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना यही उनका दूध था खिला हुआ काल वृक्ष उनका दूध था और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था इस प्रकार समस्त लोगों के हित के लिए राजा पृथ्वी ने सबका राजा भरण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया इसलिए उन्हें राजा कहा गया है तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई है पृथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से वैन को स्वर्ग प्राप्ति महादेव जी कहते हैं पार्वती राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा मेरे पिता बड़े अधर्मी थे उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो वह ब्राह्मण के द्वारा मारे गए हैं उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद आए राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा भगवान आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है यह नारद जी ने दिग्दृष्टि से जानकर कहा राजन राजन यह जन और वृक्षों के रहित मरु प्रदेश वह मलेच्छु के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्षमा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र ही वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा भगवान किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी नारद जी ने कहा राजन प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा नारद जी की यह बात वचन सुनकर राजा पृथु ने राजा का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले उनके तीर्थों की यात्रा करते हुए प्रभात क्षेत्र में आए उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यूकोमती नदी के समीप गए वहाँ ब्राह्मणों ने उन्हें श्वेत शिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे उन्होंने यज्ञ की सिद्धि के लिए कुंड को वैदियों तथा मंडपों का निर्माण किया तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ राजा पृथ्वी को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा राजन तुम धन्य हो पुण्य रूप स्वरूप हो और हम तीनों तुम्हारा कल्याण तथा पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं जिन्हें इस रोषप तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है यो कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वयं लोग को चले गए जाते समय वैन्य बैठे और स्वर्गलोक को चले जाते समय वैन्य बोला राजा इधर में चार जन्म ले चुका हूँ पहले जन्म में कोड़ी था दूसरे में पापी हुआ तीसरे में दुराचारी था चौथे में उचित था भोजी चंडाल हुआ आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ महाभाग अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो पुत्र के द्वारा पितरों के लिए भी जो कुछ दिया जाता है कहा जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया है पिता की यह बात सुनकर राजा पृथ्वी कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका कोई उन्हें वहां दान ना किया हो इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कर करने वाले उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेद्यज्ञ ब्राह्मण को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुषों को वहाँ पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए इसके लिए वहाँ किसी तिथि नक्षत्र पर्व और मास तथा आदि का नियत नहीं है वह सदा श्रद्धायुक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए किसी विशेष काल वहाँ के लिए नियम नहीं है नारायण ग्रह तथा जालेश्वर की महिमा अपस्तंभ और नाभा की कथा और गो और संतों का महत्व महादेव जी कहते हैं पार्वती गोस्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं वे सत्ययुग में स्वर्ण में त्रेता में सर्त में द्वापर में रजत में और कलयुग में प्रस्तर में विग्रह में रहते हैं सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है भगवान विष्णु जब देवताओं का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं